दुंदुभियों के स्वर गूंजे दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे उत्सव प्रारंभ महान हुआ रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ राजा ने सुंदर समय देखा बुलवाया राजकुमारी को सब सखी सहेली हिल कर ले आई सीता प्यारी को संग सखिया सारी पधारी संग सखिया सारी पधारी रंग भूमि सिया प्यारे संग भूमि सिया प्यारे संग सखिया पधारी संग सखिया पधारी सोहे नर और नार पधारी रंग भूमि सिया प्यारे रंग भूमि सिया प्यारी संग सखियाँ सारी पधारी रंग भूमि सिया पधारी मोहे नर और नारे पधारी भूमि सिया प्यारी हाथ में जयमाल सोहे विश्वमुग्धकारी हाथ में जयमाल सोहे विश्वमुग्धकारी सिर पर है साड़ी सिर पर है साड़ी सवारी सुगंध मंद मन सुगंध मंद मन चलती अनोखी चाल से सुर हो मग्न भर से सुमन क्या बहार छाई शरमाई जब आई रंग भूमि सिया प्यारी संग सखिया सारी पधारी रंग भूमि बचिया प्यारी मोहे नर नारी पधारी रंग भूमि सिया प्यारी रंग भूमि सिया प्यारी रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान उपमा मिलते है नहीं कवि क्या करे बखान आधुनिक नारियों पर कह कर झूठे कर दे सब उपमाए तब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाए फिर मनमानी बातें बढ़कर अपने सिर अपयश क्यों ले जग के जन्य जगदम्बा को जबकि उपमा ये क्यों दे दी स्वर्गीय सेवियों क्यों लाए तो रुद्राणी अर्थांगिनी है रत के समान कैसे कह दे वह भी अनंग की दुल्हन है वाचाल कहानी सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है लक्ष्मी के उपमा कैसे दे मदिरा की भगनी है इसलिए लोक पर लोकों में श्री सीता जी से लासानी है अवतार महान शक्ति का है नूरानी ही नूरानी है कोई अच्छा या बुरा कहे इसके कुछ हमें न चिंता है हमको तो अपनी माता का नक्शिक लिखने में लज्जा है पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश रंगभूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी से था मंद मंद चितवन नीचे कुछ किए हुए पहले तो एक दृष्टि डाले मझले निचले सब दर्जों पर फिर दौड़ी वे प्यारी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा थक गए था हम मिल सके नहीं ऐसे अथाह सागर देखा फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा गहरे गंभीर दृष्टि डाले फिर उन आजान भुजाओं पर शिवधनुष देखते हुए गए से जनक राज के मंचों पर बंदी जन आए तभी कृपयाज्ञा अनुसार मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार वीर जनो योद्धा गणो सुनिए देकर ध्यान कहते हैं हम सभा में निप का ध्येय महान यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है अवसर है आर्य परीक्षा का परिणाम प्रणयो राम परिणय है जो धन दक्ष यज्ञ में थे मैंने त्रिगण के लिए उठाया था निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष सरोहर पाया था दस सहस्त्र बाहु तक ने तिल भरण जिसे सरकाया है सीता के खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है उस पर है शर्त लगान पुअर बैठे हैं आए परीक्षा में पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रणठाना इसी प्रतिज्ञा में राजा के सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगे जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल उधर देख लो जान की खड़ी लिए जयमाल है समय यही छत्री वीरों निज छत्री शब्द दिखलाने का बल पौरुष का विशाल लंका मिथिला के मध्य बजाने का है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जा माता हो सिंहों के सम्मुख जय पाए ताकत यह कब चारों की है हिलमिल कर जान लड़ा दो सब जान के जन जानदारों की है हे वीरो हे वीरो हे सुरो राजाओ हे वीरो हे सुरु हे राजाओ योद्धाओ आओ धनुष को उठाओ हे वीरो हे सुरो हे राजाओ योद्धाओ आओ धनुष को उठाओ तब आगे बढ़ो और छातू के तब आगे बढ़ो और छाती के बाजे बाजू ताकत शेर लगाओ सबलता प्रबलता चपलता कुशलता सफलता सुदृढ़ता दिखलाओ अवीरो अवीरो सूर वीरो हे राजाओ योद्धाओ आओ धनुष को उठाओ तो प्यारे दुलारी विदेह कुमारी ददेशी से व्याहर चाहो हे वीरो हे सूरो हे राजाओ योद्धाओ आओ धनुष उठाओ तब आगे बढ़ो और छाते के बाजू के ताकत ये शेर लगाओ ऐ वीरो ऐ सूरो ऐ राजाओ योद्धाओ आओ धनुष को उठाओ अब उठो बल निधान दिखलाओ आन बान तोड़ो धनुष मसान हो विश्व में सम्मान हा बल दिखलाओ जो लड़ाओ जूझ जाओ जीत जाओ आओ विजय पाओ हे वीरो हे सुरो हे राजाओ योद्धाओ आओ धनुष उठाओ आओ धनुष उठाओ आओ धनुष उठाओ बंदे जन के जब सुने यह घोषणा महान धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान